धनवा पर धनवा खड़क उठे बाणों पर बाण बोल उठे वीरों का बाका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे छोड़ा जब रिप ने मेघ बाण तब इधर समीर बाण छोड़ा वह लगा छोड़ने अग्निबाण लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा नाना प्रकार की चतुराई दस कंधर तनय दिखाता था कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ ही जाता था सब भात युद्ध में इंद्रजीत तब हारा साहस ही न हुआ उर्मिलानाथ के बाणों से मूर्छित हो होकर दीन हुआ तब लगा सोचने क्या करिए यह तो समान प्रलय का है लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं सचमुच अवतार विजय का है शेष रहा था पास उसके शक्ति प्रहार वही लेकर उछल कर बोला यो ललकार अब तक मैं सिखला अब तक मैं खिलाता था तुमको अब खा जाने की बारी है इस शक्ति बाण का रूप धार आ पहुँचे मृत्यु तुम्हारी है यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा के जो देवलोक से आई है जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है इसका मारा बेसुध होता दिन उगते प्राण गवाता है जो ही यह तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है इसलिए समल हो रघुवंश तू आज न बचने पाएगा यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा हंसकर लक्षण ने कहा इस मद पर धिक्कार बाण गए मुदगर गए गई गदा तलवार जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है जब शस्त्र युद्ध से हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है कितने भी आज पतित हो तुम पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है यह ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टे धूल और करते होता न प्रश्न ब्रह्मा ब्राह्मणपन का तो चकना चूर और करते क्या चिंता ब्रह्म फांस द्वारा यह छत्रे द्वारा जाता है फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को अब चंद्र ग्रहण में आता है यह कह छाती को आगे कर सुख से वह वहाँ प्रहार सहा अपने संकट पर ध्यान न दे उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा बोल उठी संसार के गुप्त शक्तियाँ धन्य रण में यह ब्राह्मण तनयता ब्रह्मणयता नमो देव ब्रह्माय समरभू में जब गिरे होकर लखन उदास हर्षनाद कर आ गए मेघनाद के पास सोचा ऐसे ही उठा इन्हें ले जाऊं सम्मुख रावण के अपने पहले रण का यह फल पहुँचाऊँ सन्मुख रावण के पर ब्रह्म शक्ति थी और बात कुछ खेल न था उन्हें उठाना शेषावतार की महिमा को अब तक न असुर न जाना एड़े से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठाऊ सहसानंद जब उठ सके नहीं तो मुंह उतरा पग डोल उठा इतने में ही उस जगह आंधी वेग समान रामादल में आ गया बानर एक महान मूर्छित पड़े शरीर को सादर नवा कर शेष दोनों हाथों से उठा चला तुरंत वह कीस गया राम की ओर जब यह योद्धा वह वीर पीछे पीछे चल दिया सब कभी कटक अधीर अब निश्चर की आंख ने भेद लिया अब निश्चर की आंख ने भेद लिया पहचान लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम वानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम कहते थे बड़े बड़े योद्धा हा विधना क्या उत्पात हुआ रघुकुल पर उल का पात हुआ कपिदल पर वज्राघात हुआ जब लखन नहीं तब राम कहाँ जब राम नहीं तो विजय कहाँ जब विजय नहीं तो सिया कहाँ जब सिया नहीं तो शुभ समय कहाँ इनका तो रण सीता पर था लंका पर था उद्देश्य लिए अपनारण परमारथ पर था साहस पर था आदेश लिए था इससे अधिक पक्ष हमको लंका पर जय पा जाने का जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य करने का संसार कहेगा वन रोने वन में बहकाए रघुवंशी को बन रे तो बन को भाग गए सब कुछ खो आए रघुवंशी धिक्कार हमारे जीवन पर जो नाम धराए अपना है अच्छा है डूबे सागर में अस्तित्व मिठाए अपना हम कहा विभीषण ने तभी रोको हाहाकार अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार लंका में एक सुसेन वैद्य विख्यात नाम का है अपने वह औषध पूर्ण जानता है सब भात काम का है अपने मेरा जाना तो ठीक नहीं जाकर अपने में दुविधा है जो लंका से कुछ परिचित हो वही उसको ला सकता है मैं लाता हूँ रघुराय इस तरह बोल उठे हनुमान तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान रघुराई का ध्यान धर चले भले हनुमंत सैया सहित सुकेन को लाए वहीं तुरंत जागा सुचेन रामादल में देखा सम्मुख रघुराई है छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई है मनमोहन श्याम छलो नामुख इस समय आंसुओं से तर है मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है सन्मुख देख सुखेन को बोले कौशल राय वैद्यराज यत शीघ्र ही कुछ कीजिए उपाय यह सुन कहे सुसेन ने मर्म भरे कुछ बैन एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नैन मैं वैद्य दसानन के घर का किस तरह आपका काम करूं अनुचित होगा यदि बैरे को लंकापति के आराम करूं जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए यह सुनते ही चौक कर बोल उठे रघुराय धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय जिस धर्म हेतु निज राज्य गया से पित देव का मरण हुआ जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा सीता प्यारे का हरण हुआ उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए आवाज यही होगी अपनी हा धर्म नहीं जाने पाए हर चीज जगत की कुर्बान धर्म पर है धर्म और संपदा क्या जे जान धर्म पर गए हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है धर्म और संपदा क्या जी जान धर्म पर है भंगी के घर बिके थे पुरखे हमार जाकर भंगी के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर रघुकुल के सर्वदा से संतान धर्म पर है हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है धर्म और संपदा क्या जे जान धर्म पर है ब्रह्मा स्वद्वार भाई मूर्छित हुआ तो क्या है उसकी कमान अब भी बलवान धर्म पर है उसकी कमान अब भी बलवान धर्म पर है अवसर अगर मिला तो दिखलाए गाय राघव भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा राघो भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है बलिदान धर्म पर है हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है धर्म और संपदा क्या जो जान धर्म पर है धर्म और संपदा जे जान धर्म पर है हर चीज इस जगत के कुर्बान धर्म पर है कुर्बान धर्म पर है इस उदार वक्तव्य से वैद्य हो गया शांत चरणों पर गिर कर कहा जय जय सीता कांत